मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला पर है जो तमाम जहान का रब है